हमने पिछले सेशन में बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर हमको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो हम किसी रिमोट एरिया में भी बैठ करके पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं अब कैसे करना है उसको आज डिस्कस करते हैं जिस भी एरिया में आप रहते हो हर एरिया के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस एरिया के फेमस होते हैं या that area is known for some particular products जिसकी क्वालिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है और जो जो वहां पर सस्ते में बनता है फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे होता है हर एरिया में नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कितने यूपी से है यूपी में एक जगह है खुर्जा yes, सुना है इसके बारे में आप लोग yes, खुर्जा का क्या फेमस है पॉटरी पॉटरी पता है ना क्या होती है गमले होते हैं ये होता है वो होता है पॉटरी प्रोडक्ट्स प्लेट ये वो वट है ना सेरेमिक भी बोलते हैं उसको शायद तो पॉटरी की वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है बहुत सारी फैक्ट्रीज है वहां पर जो चीज़ सौ रुपए की मिलती है वो अगर आप यहाँ पर जाकर के थोड़ा सर्वे करोगे दिल्ली में बॉम्बे में ऐसी जगहों पे तो वहाँ पर वो पाँच सौ रुपए से हज़ार हज़ार रुपये दो दो हज़ार रुपए तक की मिलती है इतना डिफरेंस है तो अगर आप वहीं पर रह करके उसी एरिया में रह करके ऐसी गुजरात में कुछ एरियाज हैं जहाँ की मान लो साड़ी फेमस है कहीं का कुछ फेमस है कहीं का कुछ फेमस है कुछ ऐसा जिसको आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सको मतलब पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सको चलो वर्ल्ड को भी अभी हटा देते हैं शुरू के लिए इंडिया से आप शुरू कर सको तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए अगर एक्चुअल में आती है तो और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो बिजनेस को लेकर के तो आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केटिंग सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कुछ आइडिया भी बड़ा कमाल का आपके माइंड में आ गया या आपने कहीं से सुन लिया या मेरा ही कोई आइडिया सुन लिया और सुन करके उसको करने लग गए लेकिन मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता है फेल हो जाओगे तो marketing is more important than manufacturing और इनफैक्ट आपको मज़ेदार बात बताता हूं अगर आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे कैसा भी प्रोडक्ट उसमें ध्यान से आप पैकेजिंग में पढ़ोगे ना तो उसमें क्लियर लिखा होता है manufactured by and marketed by even the biggest of brands वो भी यही कर रहे हैं वो खुद नहीं बनाते हैं ऐसा लगता है हमको कि वो खुद बना रहे हैं खुद नहीं बना रहे कोई और बना रहा है वो मार्केटिंग कर रहे हैं छोटे से छोटा ब्रांड बड़े से बड़ा ब्रांड सब यही कर रहे हैं आज की डेट में तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अगर मार्केटिंग सीखनी है तो आप क्या करें एक बुक है फिलिप कोटलर की marketing management by Philip Kotler इतनी मोटी बुक है पढ़ने में कुछ दिन लगेंगे लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो बिजनेस को लेकर के पढ़ दो एक बार एक बार में समझ ही नहीं आए हाँ वो एक बार में समझ नहीं आएगी दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो चार बार पढ़ो पढ़ने में कुछ जा तो नहीं रहा है ना और किस लिए पढ़ रहे हो कोई एग्जाम देना है जाकर के कहीं से नंबर आएंगे या कोई आपको नंबर देने वाला है किस लिए कि भाई बिजनेस करना है तो मार्केटिंग आनी ही चाहिए आपका माइंड मार्केटिंग माइंड होना चाहिए तो आप ऐसी ऐसी जगह पे बिजनेस देख लोगे ऐसी छोटी मोटी जगहों पे जो सुनते ही आदमी कहेगा ये क्या है ये कोई काम है वहां पर भी आपको बड़े बड़े बिजनेसेस नजर आएंगे अगर मार्केटिंग माइंड है तो मार्केटिंग माइंड नहीं है तो बड़े से बड़ा भी आइडिया आपके सामने पड़ा होगा आप उसको भी छोटा बना दोगे छोटी सोच में फिट कर दोगे मार्केटिंग से चीजें बड़ी होती है तो ये बुक आपने ले ली चाहे इसकी ई बुक ली चाहे फिजिकल कॉपी ली और इसको दो बार पढ़ लिया तीन बार पढ़ लिया चार बार पढ़ लिया जब तक ये समझ ना आ जाए अगर ये समझ नहीं आ रही तो बिजनेस मत करो ना क्यों कर रहे हो <laughs> अब दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो चार बार पढ़ो जब समझ आ जाए मान लो एक महीना लगा इस प्रोसेस में तब सोचो बिजनेस करने का अब कहो कि हाँ यार मेरे को फंडे तो समझ आ गए फंडामेंटल्स मतलब थ्योरी समझ आ गई है बिजनेस की अब प्रैक्टिकली करना है तो पहले आपने वो बुक पढ़ी उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग को सीखा अब वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी क्योंकि मार्केटिंग इज मार्केटिंग समझ गए ना बेसिक फंडामेंटल सेम है बस मीडियम अलग है सो so, अब आपने क्या किया आपने कहा कि मेरे एरिया का क्या यहां पर ऐसी चीज़ है जो फेमस है प्लस सस्ता है प्लस इसकी ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है ऐसा भी ना हो कि आपके एरिया में कोई चीज़ बनती है खाने पीने की लेकिन और जगह पे उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर अगर वो बनती भी है तो वो बनते ही दो घंटे पे खराब हो जाती है अब आप कहोगे मैं इसको पूरे इंडिया में करूंगा तो तब तक तो भाई काम हो जाएगा तो आपको क्या करना है ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढना है जिसको आप भेज भी सको अब पॉटरी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है जैसे ही आप उसको कुरियर करोगे there is a strong possibility वो टूटेगा तो आपको यहां पे इस बिजनेस में सबसे पहले क्या फिगर आउट करना है पैकेजिंग सारी में ये प्रॉब्लम नहीं है सूट में लहंगे में इन सब चीजों में ये प्रॉब्लम नहीं है बट इसमें तो है ना तो पैकेजिंग को आपको फिगर आउट करना है और वो फिगर आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें दिमाग दौड़ाना है कि कैसे मैं थर्मोकॉल लगा करके ये वो इतना मोटा लगाता हूं तो उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कुछ पैक किया यहाँ से किसी को अपने किसी रिलेटिव को कोरियर किया जैसे मान लो वहीं पे रहते हो यूपी में मेरठ में या वहाँ पे कहीं भी आप रहते हो तो वहाँ से आपने कहीं किसी को कोरियर किया फिर पूछा फ़ोन करके दिल्ली में बॉम्बे में आपके रिलेटिव रहते होंगे इसको क्या बोलते हैं आर एंड मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझ गए आपने अलग अलग तरह की पैकिंग करके भेजा उसमें नंबर लिख दिया वन टू थ्री आपने पूछा अच्छा कौन सा सबसे बेस्ट कंडीशन में आया है कौन सा टूट गया है तो आपने जब आर एनडी डी कर लिया आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस तरीके से भेज सकता हूँ अब आप क्या कर सकते हो एक वेबसाइट बना सकते हो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आती है आपको अब देखना ध्यान से समझना दो तरह के बिजनेसेस होते हैं एक होता है एक तरह का मॉल जैसे फॉर एग्जाम्पल एमेजॉन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया वो एक तरह का शॉपिंग मॉल है जहां पे सब कुछ मिलता है एक होते हैं स्टोर्स ऑनलाइन जहां पे एक पर्टिकुलर नीच सेगमेंट को टारगेट किया जाता है नीच होता है मतलब इतने बड़े में से एक छोटे से सेगमेंट में आप एक्सपर्ट बन गए जैसे ये वाली वेबसाइट्स भी हैं प्लस ग्रॉसरी की भी वेबसाइट्स हैं हाँ जबकि वहाँ पे ग्रॉसरी भी मिलती है फिर भी ग्रॉसरी की एक अलग वेबसाइट है बच्चों के प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर मिलते हैं लेकिन बच्चों के प्रोडक्ट्स की कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं तो वो क्या हो गए वो स्पेशलाइज हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में तो आप भी कुछ ऐसे ही करने वाले हो आपको क्या करना है एक नीच को आपने पकड़ लिया नीच क्या है पॉटरी को पकड़ा फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको इस तरीके से देखो पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए इसी सेगमेंट में हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं कप प्लेट से लेकर के गमले होते हैं वास होता है कुछ शो पीसेस होते हैं बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं इसकी आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली इसमें कोई प्रॉब्लम है no, क्या आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हो no, प्रोडक्ट्स ऐसे चुनो जो आपको पता है कि जिसकी क्वांटिटीज रेडिली अवेलेबल होती है आ रही है पूरी बात समझ में आ रही है बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है ना हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट मत पकड़ लेना कि जो आपको अभी तो मिल जाए लेकिन मान लो उसके सौ ऑर्डर आ गए अब वो प्रोडक्ट है ही नहीं अब आप शिप ना कर पाओ तो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा जो चलने वाली आइटम्स हैं जो आपको पता है पिछले कई सालों से बन रही है और आगे भी बनती रहेगी वो आप पहले ही उससे रिटेलर से पूछ लेना अभी बहुत बड़े लेवल के टाइप के बारे में मत सोचो मतलब you don't need to go directly to the manufacturer क्योंकि वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा आपने किया क्या है आप हो गॉन समझ गए लेकिन उनके जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहां जो बंदे बैठे हैं मान लो दो चार पाँच साल से दस साल से जॉब करते हैं उनको पता तो सारा है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है तो वहीं से आपने कुछ रिटेल में ही प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए समझ गए ना कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी मान लो दस हजार रुपए की अब आपको चाहिए एक ई कॉमर्स स्टोर वो कहां से बनेगा ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए शॉपिफाई किसने बोला ये let's give big hand for him ji Shopify is the best platform अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है या एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है अब ध्यान से समझो शॉपिफाई का क्या बेनिफिट है क्योंकि अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाने निकल गए ज़्यादातर हम गलती क्या करेंगे मेरा एक दोस्त है इसने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखी है मैं इससे बनवा लूंगा आप भी मरोगे वो भी मरेगा वो वेबसाइट कभी तैयार ही नहीं होगी बनाते रहो और उसके बाद इतने बग्स होंगे उसके अंदर बग्स पता है ना yes, हाँ इतने बग्स होंगे कि <laughs> वेबसाइट चलेगी ही नहीं रोते रहोगे बैठे बैठे तो ये गलती कभी मत करो इसमें एक तो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है प्लस कॉस्ट भी ज़्यादा लगने वाली है किसी और से अगर आप बनवाओगे शॉपिफाई में क्या हुआ एक ऐसी वेबसाइट है जो अगर आप खुद बनवाने निकल जाते हो तो कम से कम उसमें पता है कितना खर्चा आएगा जिस लेवल की वो वेबसाइट है लाखों रुपए लगने वाले हैं तो स्मार्ट वर्क करो ना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो हार्ड वर्क क्या है कि मैं खुद बनाऊंगा अपनी वेबसाइट उस लेवल की वेबसाइट बनाने में आपको कई साल लगेंगे प्लस लाखों रुपए लगने वाले हैं तब भी पक्का नहीं है कि आपकी उस लेवल की वेबसाइट बन पाएगी या नहीं क्योंकि उसके पीछे हजारों प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके पीछे हजारों लोग काम कर रहे हैं वो वेबसाइट आपको कितने में मिल जाती है शॉपिफाई का स्टार्टिंग प्लान क्या है ट्वेंटी नाइन डॉलर पर मंथ मतलब कितने का हो गया दो हजार महीना हो गया दो हजार महीने में अपने खुद के डोमेन के नाम से एक ई कॉमर्स स्टोर आपका बन गया है आप ये कह लो दो हजार महीने में आपका एक स्टोर खुल गया है देखना दो तरह के अलग अलग माइंडसेट हैं एक माइंडसेट है टिपिकल जो आपके पेरेंट्स का होगा या जो पुरानी जो पिछली जो जनरेशन है उनका होगा वो क्या होगा अच्छा एक काम करना है दुकान खोल लो yes, Yes, कहना आसान है बट करने में कितने पैसे लगते हैं लाखों रुपए चाहिए पहले उसका रेंट फिर उसको बनवाना इंटीरियर ये वो फिर स्टॉक करो ये करो पता नहीं क्या क्या और प्लस वो स्टोर जो आपने खोल भी लिया किसी एक जगह पे तो वो एक ही जगह पे तो है मैं जिसकी बात कर रहा हूं ऑनलाइन स्टोर वो किस जगह पर है आप दो हज़ार रुपए महीने में पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हो यानी खुर्जा बैठे बैठे आप यूएस में भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो आपको कुछ नहीं करना है शॉपिफाई में वो सारे ऑप्शन ऑलरेडी है कि अगर कोई यूएस से आएगा तो उसको वहां पर जो प्राइसिंग है वो डॉलर्स में दिखेगी कोई यूके से आएगा तो उसको वहां की करेंसी में दिखेगी यूरोप से आएगा तो वहां की करेंसी में दिखेगी इंडिया से आएगा तो यहां की करेंसी में दिखेगी ये सब ऑटोमेटिक होगा आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ वहां पर लिस्ट करते चले जाना है अपने प्रोडक्ट्स को तो अगर आपने अपना एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर बना लिया पहले आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया ये प्रोडक्ट आपको समझ आ गया कि हाँ पूरे वर्ल्ड में पोटेंशियल तो है लोगों को चाहिए ये प्रोडक्ट एक तो तरीका है वो वहीं जा करके किसी स्टोर से खरीदे एक है ऑनलाइन खरीदे तो आपने अपना स्टोर बना लिया उसका नाम रख दिया for example Pottery Bazaar dot com Bazaar इसलिए क्योंकि Bazaar is not just an Indian world ये यूएस में भी लोग समझते हैं तो नाम भी आपने ऐसा रखा जो इंटरनेशनली लोगों को समझ आई मतलब इंडियंस को भी समझ आया बाहर को भी समझ आया सबको समझ आ गया सो so, अब आपने क्या किया अपना एक स्टोर बना लिया उस स्टोर में आपने क्या किया कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए एक तरीके से वो आपके पास में बेसिक स्टॉक हो गया कि अगर एकदम से एक, एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया तो वो तो आपके पास ही पड़ा है वो आपने एज इट इज दे दिया पचास प्रोडक्ट्स भी लिया ऑन एन एवरेज दो सौ रुपए की भी आपको कॉस्ट आई तो कितनी की इन्वेस्टमेंट हो गई दस हजार की हो गई इन्वेस्टमेंट ठीक है तो दस हजार की आपने खुद इन्वेस्टमेंट कर दी अभी क्यों कर रहे हो अपनी जेब से ताकि जब आप जाओ किसी मैन्युफैक्चरर से मिलने तो उसको कोई दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए ना समझ गए नहीं तो एकदम से आप उठ करके चले जाओगे वो कहेगा अच्छा क्या करने वाले हो ये करने वाला हो कहाँ है कुछ दिखाओ ना आपके पास कोई वेबसाइट है ना कोई स्टोर है सिर्फ बातें हैं तो आपने अपना स्टोर बना लिया दस हज़ार रुपए में और प्लस दो हज़ार रुपए महीना आपका वहां पे उसको आपको शॉपिफाई वालों को देना आपका स्टोर तैयार है आपका अपना डोमेन नेम से अब आप एक ई कॉमर्स स्टोर के ओनर हो अब उस विजिटिंग कार्ड के साथ अगर आप जाते हो क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल टाइप के हैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना इनके लिए ऑनलाइन एक स्टोर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है उनके लिए क्या है कि आपने एक स्टोर बनवाया है ऑनलाइन वेबसाइट बनवाई है लाखों रुपए खर्च के अब आप दोनों एक लेवल पे हो बात करने के लिए एक लेवल पे आना जरूरी है ना पहले अपने माइंड में पहले एक लेवल पे आ जाओ बाद में उनके सामने एक लेवल पे आओगे ध्यान से समझना मेरी इस बात को ये मैं बता रहा हूं जब तक आपके खुद के माइंड में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा आप कौन हो आप फाउंडर एंड सीईओ हो पॉटरी बाजार के आप अपने ही उसमें उनके प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके आप सब कुछ करोगे आप उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो उनको उनके पैसे दे रहे हो कब खरीद रहे हो जब बिक रहा है जैसे जैसे आपका स्टोर बनता चला जा रहा है मानो दस बीस हजार रुपए में आपका स्टोर पूरा तैयार हो गया अब आ जाता है इसकी मार्केटिंग कैसे करनी इसीलिए मैंने कहा पहले marketing management by Philip Kotler पढ़ो फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखो फिर ये सब करो जब बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं मार्केट कर लूंगा कि कैसे ऐड करनी है अब इस वेबसाइट की कैसे यहाँ पे लोग आएंगे कैसे खरीदेंगे क्या होगा वो पूरा आपने पहले ही स्टडी कर लिया है प्लस आप क्या कर सकते हो ये तो हो गई आपकी अपनी वेबसाइट अब आपके पास अपनी वेबसाइट है तो अब आप एमेजोन को फ्लिपकार्ट को भी अप्रोच कर सकते हो क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है लाखों लोग हो गए हैं जो वहां पे अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आप में से भी बहुत सारे ऐसा काम कर रहे होंगे कितने कर रहे हैं अमेजोन देख रहे हो यहाँ पर भी इतने लोग बैठे हैं तो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो पहले शुरू में क्या हुआ था कोई भी आता था तो वो उसको अलाउ कर देते थे आज उनके भी अपने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं अब वो हर किसी को नहीं लेते हैं but if you have your own e commerce store अब अगर आप इन लोगों को अप्रोच करते हो अमेजोन को फ्लिपकार्ट को तो अब आप एक लेवल पे हो तो वो भी आपको सीरियसली लेंगे बिना किसी ऑनलाइन स्टोर के आप वैसे ही उनसे बात करते हो तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि हाँ ठीक है हमको हज़ारों लाखों लोग अप्रोच कर रहे हैं आप भी उसी में से एक हो बट अगर आपके पास में कुछ है कुछ इंटरेस्टिंग तो वो आपको सीरियसली लेंगे आप समझे मैंने क्या बोला है तो आप खुद भी डायरेक्टली भी कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में प्लस इनके थ्रू भी कर रहे हो प्लस अगर विजन और बड़ी है तो ईबे डॉट कॉम को भी आप अप्रोच कर सकते हो उनकी दो तरह की वेबसाइट एक डॉट कॉम है डॉट इन है डॉट इन मतलब इंडिया के लिए हो गई डॉट कॉम मतलब अगर उस पर आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया तो आप यहीं बैठे बैठे मतलब खुर्जा में बैठे बैठे आप यूएस की मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो जहां पे वो लोग डॉलर्स में पे करेंगे और उनके लिए अगर उनको चीज समझ आती है तो <laughs> पैसे महीने नहीं रखते हैं अगर एक प्रोडक्ट आपको मान लो एक डॉलर का पड़ रहा है और वो आपने दस बीस डॉलर का भी बेच रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है और कितना बिक सकता है उसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं और ये सब जो मैं कह रहा हूं ना ये मत समझना ये सब थियोरटिकल है लोग ऐसा कर रहे हैं बहुत लोग इंडिया में ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है ये सारे पत्ते खुल रहे हैं अभी आप ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर की जो है ना ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है ये लीक हो रही है तो बिजनेस मॉडल समझ आ गया है आप एक स्टोर बन गया पॉटरी बाजार डॉट कॉम और प्लस आपके और स्टोर्स खुल गए हैं और अलग अलग ई कॉमर्स जो पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रही है वहाँ पर वहां पर भी एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन होते हैं कि जैसे ही वहाँ पे कोई मान लो कपलेट सर्च करेगा तो आप वहाँ पर भी अमेजोन पे भी एड कर सकते हो एक है नॉर्मल लिस्टिंग में आ रही है क्योंकि जैसे कोई कपलेट वहां पर सर्च करेगा हज़ारों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो वहां पर भी आपको टॉप पे आना है क्योंकि ई कॉमर्स का सीधा सा फंडा है जो दिखता है वो बिकता है इसको याद रखना अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मान लो सौवे पेज पर है तो किसी को नहीं पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसी ने नहीं देखा हाँ। तो यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग काम आने वाली है क्योंकि ज्यादा लोग क्या करते हैं अपना स्टोर तो खोल देते हैं फिर किसी ना किसी को हायर करते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए अब जिसको हायर करेंगे वो और भी बीस बंदों का काम कर रहा है तो वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा या आप खुद करोगे तो ज़्यादा एफर्ट लगाओ समझ गए ना स्ट्रेंथ इसीलिए मैंने शुरू कहां से किया था मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग और फिर अब आप इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड को कैप्चर करते चले जा रहे हो यहां पर लोग ऑलरेडी इस बिजनेस मॉडल के थ्रू कितना कमा रहे हैं कुछ आइडिया है महीने का कितना कमा रहे हैं लाखों और करोड़ों मैं कमाई की बात कर रहा हूं सेल की बात नहीं कर रहा हूं लोग ये जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया है इसके थ्रू लाखों करोड़ों रुपए ऐसा नहीं कमा सकते हैं हजारों लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो लाखों लोग महीने के लाखों रुपए इसके थ्रू कमा रहे हैं तो किसी का दिमाग बंद होगा तो क्या कहेगा मुश्किल है दिमाग खुला होगा तो क्या कहेगा अरे जब लाखों कर सकते तो मैं नहीं कर सकता क्या मैं इतना क्या गुजरा हूं क्या <laughs>